सुखासिनियों में से मातृकाएं हैं योगिनियां हैं और उन्हीं के समुदाय में से उनकी सेना है उस सेना में ये कालिकाएं हैं ये कालिकाएं इनके सबके अपने अपने स्वभाव हैं अपने अपने रूप हैं अपने अपने ढंग हैं ये कालिकाएं जो है ये <clears throat> इनको युद्ध प्रिय है और ये सिरों के खप्पर बना करके रक्त का पान करते हैं ऐसी भयंकर है ये ये कालिका है जैसे बहुचन में कहते हैं कालिका कई वृंद वृंदन बहु मिली वृंद वृंदन मैंने समूह समूह बना करके बहुत से जैसे वो कालिकाएं चली हो और सिर की मालाएं उसके रावण की सिर की मालाएं लेकर के वो संग्राम रूपी बटवृक्ष की पूजा करने के लिए चले वैसे तो ये काव्य बन गया लेकिन काव्य के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अब ये जो संग्राम है ये देवास्व संग्राम है उस देवास्व संग्राम में अब ये कालिकाएं जो है रावण के सिर को लेकर के पूजा करने चलती हैं इसके माने ये इनको निशाचरों के और ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के जो अधम सख इत्यादि हैं उनके मरण से प्रसन्नता होती है और उन्हीं का रक्तपान ये करते हैं इसलिए ये तो सब संसार में लीला स्थूल सूक्ष्म जगत बड़ा विचित्र है ये इस जगत में ये कालिकाएं भी हैं हम्म? लेकिन कालिकाएं ऐसे नहीं करके स्थूल रूप शरीर के जैसे होते हैं मनुष्यों के इस प्रकार देखने में नहीं आएंगी ये सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत इनकी गणना है अभी कहते हैं फिर जब ये सब इस प्रकार से युद्ध हो रहा था तो अब इसी के बीच में फिर भगवान ने थोड़ा रुके तो रावण को फिर जहाँ अवसर मिला तो उसने क्या किया कि पुण्य दस खंड क्रुद्ध हुई छाणी शक्ति प्रचंड अब तो रावण ने जो है वो क्रोधित होकर के भयंकर शक्ति उसने फिर चलाई जैसे पहले देखा तो भगवान के ऊपर छोड़ी तब तो भगवान ने बाढ़ मारा और वो शक्ति उड़ करके दूसरी तरफ मुड़ गई और चली गई वापस प्रचंड शक्ति पहले थे अब की बार रावण ने वो शक्ति भगवान राम पर नहीं मारी वो शक्ति चलाई विभीषण के ऊपर रावण को दिखाई दिया कि भगवान राम जहाँ युद्ध कर रहे हैं वहीं विभीषण भी खड़ा हुआ राम विभीषण युद्ध नहीं कर रहा था लेकिन उसको विभीषण दिखाई पड़ा तो क्या किया उसने पुण्य दशकंठ क्रुद्ध हुई छाणी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख हम्म? ऐसा लगता है कि वो शक्ति आती हुई दिखाई दी भगवान को तो वो चली आ रही और दिशा ये दिखाई दी जिधर विभीषण है उसी तरफ शक्ति चली आ रही हम्म? तो मनो काल कर दंड भगवान को दिखाई जा रही है ये तो ऐसी भयंकर शक्ति है कि विभीषण के लग गई तो विभीषण बच नहीं सकता मर ही जाएगा ये भगवान ने समझा एक ऐसा लगता है विचार किसी किसी का कि ये है भगवान राम रथ के ऊपर चढ़े हुए थे और ये विभीषण जो है वो पैदल खड़ा हुआ था वो शक्ति अगर आई और विभीषण के लगने के लिए आ रही उस तरफ और भगवान ने आते हुए देखी तो भगवान को क्या हुआ इतनी देर में क्या भगवान रथ से कूदे तब विभीषण के सामने पहुंचे या कहीं विभीषण इतने पास था या भगवान राम रथ पर नहीं थे उन पर ही थे कहीं कहीं चित्र बनाए दिखाई देते हैं तुम्हारा रथ नहीं दिखाई देता ऐसा दिखाई देता है विभीषण मैदान में खड़ा हुआ है भगवान राम भी खड़े हुए हैं तो भगवान राम विभीषण के आगे आ गए हैं और वो जो है वो शक्ति आकर के भगवान राम की छाती में लग रही ऐसे चित्र इसमें ही दिखाई देंगे अपनी पुस्तकों में मिलेंगे तो ये स्थल एक मार्मिक स्थल है जरा और बहुत हम्म, ध्यान देने योग्य उसके तरफ तो तुलसीदास जी ने विशेष ध्यान दिया है इस, इसके ऊपर और वो जो रामचरित मानस का अध्ययन करने वाले हैं विद्वान हैं उन्होंने भी इसको मात्रा दी है और चित्र भी उसके ऊपर बनाया गया इसके माने उधर ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से आगे देखिए क्या कहते हैं आवत देख शक्ति अति घोरा भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सोई से लाग सत्य मुरझा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई देख विभीषण प्रभु श्रम पायो कही कर गदा क्रुद्ध धायो स्त्री कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तैसुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव का शीश चढ़ाए एक एक के कोटे न पाए कहते कारण खल अब लग पाचो अब तब काल शीस पर नाचो राम विमुख सट चाहस संपदा हस कहे हनस माझे उर गदा उर माझ गदा प्रहार भोर कठोर लागत मई पर्यो दस सोनित सर्वत पुन संभारी धायो ऋष भयो गौभिरे यति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध कोई कहीं हन रघुवीर बल दर्पित विभीषण ढाल नहीं ताकू गन उमा विभीषण राम नहीं सनमुख चुत की सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाओ देख सकती है तो घोरा तो जैसे ही भगवान ने देखा कि बड़ी घोर शक्ति चली जा रही है यमराज के दंड के समान ऐसा लगता विभीषण बचेगा नहीं तो भगवान ने सोचा अपने कि प्रणतारत भंजन मोरा कि मेरा प्राण प्रतिज्ञा क्या है प्रणत आरती भंजन जो हमारी शरण में आए हैं उनके आर्त को दुख को कष्ट को भंजन करना दूर करना निवारण करना माने हमारा जो शरण में है उसकी रक्षा करना और उसकी विपत्ति को आई हुई विपत्ति को दूर करना ये हमारी प्रतिज्ञा है भगवान का स्वभाव तो माने देखो ये जब विभीषण भगवान की शरण में गया था तब भी शरणागति क्या है उसके ऊपर बहुत विस्तृत वर्णन था वहां भगवान ने स्वयं वहां पर अपने शरणागत की उनकी प्रतिज्ञा क्या है वो स्वयं अपने स्वभाव का वर्णन बड़े विस्तार के सहित वहां पर किया था उसी को यहाँ जब वहां तो ये दिखाया था कि वो विभीषण भगवान की शरण में आया भगवान ने विभीषण को अपनी शरण में स्वीकार किया और भगवान ने कहा कि मेरा तो स्वभाव जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ अब वहां विभीषण की क्या रक्षा करनी थी अब रक्षा करने का तो अवसर अब आया यहाँ पर अभी तक विभीषण भगवान की शरण में है तो अब देखते हैं कि विभीषण को आकर के ऐसी शक्ति लग रही लगने को आ रही है कि विभीषण बच नहीं सकता मर ही जाएगा तो अब यहाँ भगवान उसकी रक्षा करते हैं तो भगवान ध्यान रखते हैं कि विभीषण हमारी शरण में आया है <clears throat> और इसकी हमें रक्षा करनी है इसलिए वो उस शक्ति से रक्षा करने के लिए विभीषण भगवान श्री राम जी विभीषण के सामने आ जाते हैं तुरंत विभीषण पाछे मेला माने भगवान ने क्या किया झट से विभीषण को धक्का मारा पीछे और स्वयं जहाँ शक्ति आ रही तो उसके सामने हो माने इतने बीच में उनको अवसर ये नहीं मिला कि शक्ति को बचाते तोड़ते काटते ये नहीं दिखाई दिया उन्हें विभीषण को बचाने के लिए स्वयं आगे खड़े हो गए तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सही उसे सेला और सन्मुख सहयो कि मन जिधर सेला रही थी उसी तरफ अपना मुंह कर लिया तो आकर के भगवान राम की छाती में आकर के वो सेल भाला सेल के माने भाला समझ लो बच्ची समझ लो वो आकर के उनकी छाती में आकर के लगी और सही कहते हैं कि सहयो सही सेला सहन करने के माने ये कि उसके लगने से घाव हुआ या हुई लेकिन सब सहन किया स्वयं कष्ट सहन किया लेकिन विभीषण के ऊपर ये सेल आ रही थी उससे उसकी रक्षा की उसको बचाया ये भगवान का जो है ये प्रतिज्ञा तो मैंने ये दिखाने की तात्पर्य कि देखो जीव का सारे संसार में जहाँ तहां भटक रहा है नाना प्रकार की विपत्तियां क्लेश उसको आती रहती हैं और जब तक भगवान की शरण में नहीं जाता तो वो अपने ही अपने दुर्भाग्य से अपने ही अज्ञान के कारण से संसार के सारे संकट दुख आज सहन भी करता है भगवान की शरण में जाए तो भगवान की शरण की महिमा क्या है कि जो भगवान की शरण में है वो सब प्रकार से सुरक्षित है उसको कोई भय नहीं उसके लिए कोई चिंता नहीं उसका कोई विनाश भी नहीं होने वाला है कोई कष्ट भी नहीं होने वाला सदा भगवान के भगवान की शरण में सदा सुरक्षा शांति और सुख है जीव सुख चाहता है जीव स्वतंत्रता चाहता है जीव सुरक्षा चाहता है ये तीनों बातें जो जीव के हैं जो स्वाभाविक इच्छा उसकी है प्रबल इच्छा जिनकी है उन तीनों की पूर्ति भगवान की स्थाई होती भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं भगवान उसको संसार के बंधन से छुड़ाते भी हैं कर्म के बंधन से भी छुड़ाते हैं और भगवान दुखों को भी निवारण करके उसे जीव को सुख भी प्राप्त कराते हैं ये तीनों ही भगवान की शरण में ही संभव है और यही भगवान की प्रतिज्ञा है और भगवान कुछ नहीं करते करते हैं तो केवल इतना ही करते हैं कि जीव की जो ये समस्याएं हैं उनका निवारण कर देते हैं और उनका निवारण करना भी कैसा है ऐसे नहीं को निवारण करने में बड़े व्यस्त रहते हैं तो बड़ी थकान उनको लगती हो बड़े दिन भर परेशान रहते हो सो भी नहीं जैसे सूर्य को शीत निवारण करने के लिए सूर्य के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता सूर्योदय होता है शीत अपने आप निवारण हो जाती है जैसे सूर्य को अंधकार के निवारण करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता सूर्योदय होता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है उसी प्रकार से जो भगवान की शरण में आया तो शरण में आने से वो अपने आप ही भगवान का प्रभाव ऐसे है कि उसका व्यक्ति के सारे दुख दूर हो गए नई चिंताएं के लिए शादी दूर हो गए उसकी पराधीनता दूर हो गई और उसके जो वो जो कष्ट नाना प्रकार के उन सबका समापन समाप्त हो जाते हैं अपने आप हो जाते हैं समझो तो चाहे ये कहो कि भगवान की कृपा से हो जाते हैं चाहे समझो अपने आप हो जाते हैं लेकिन भगवान की शरण में जाना पड़ता है भगवान के शरण में जीव को ही जाना पड़ता है इंसेंटिव जीव को लेना पड़ता है इंसेंटिव को मैंने अब जब तक कि जीव उस प्रकार का प्रयास न करे समझे कि हम जहाँ कहीं है हम ठीक है अपने हमें क्या करना हम अपने जहां जिस संसार में पड़े हुए हैं जहां लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं जहाँ आकार पड़े हुए यही बहुत अच्छा है तो कोई जरूरत नहीं है भगवान के शरण में जाने की बात ही क्या है न भगवान के शरण में जाने की बात है न भगवान के उनका कोई उसके ऊपर कोई इस प्रकार का होना है तो उसकी रक्षा करें या कुछ करें उनको भी भगवान की भी उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है <clears throat> लेकिन वो जब जीव स्वयं ही अपनी तरफ से भगवान की शरण में जाए तो फिर भगवान की शरण में जाने वाले जीव के लिए अपने आप ही <clears throat> सुख भी है शांति भी है सुरक्षा भी है स्वतंत्रता भी है ये सब जीव को सब वहीं पर सब सुलभ होते हैं <clears throat> बस इस प्रकार समझ लें कि दो क्षेत्र हैं समझने के लिए दो क्षेत्र हैं एक क्षेत्र तो संसार के अंदर है माया के अंदर का क्षेत्र है और एक माया के बाहर का क्षेत्र है माया के बाहर परमात्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप ही है वही तत्व है वहाँ कहीं कोई नानात्व नहीं कोई भेद नहीं है वहां पर एक क्षेत्र वो है और दूसरा वो है माया तो सृष्टि नाम रूपात्मक जिसमें कि पढ़ करके फिर वही वही दिखाई देता है भेदभाव ही दिखाई देता है परमात्मा को उपलब्ध नहीं ये दो स्थितियां हैं जब तक व्यक्ति एक क्षेत्र में है तब तक वो क्लेश में दुख में है परेशानियों में उस क्षेत्र से निकल करके दूसरे क्षेत्र में आ गया वहां पर यही शरणागति है तो वो इस क्षेत्र से निकल करके परमात्मा के क्षेत्र में आ गया परमात्मा के राज्य में आ गया तो बस उसके बाद हम सब प्रकार से सुरक्षा है वो सारी समस्याएं समाप्त हैं उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जैसे दो प्रकार के लोक हैं एक स्वप्न लोक है एक जागृत लोक है स्वप्न लोक में जब तक हैं तब स्वप्न की जितनी भी समस्याएं हैं स्वप्न लोक की तब तक तभी तक है जब तक स्वप्न देख रहे हैं स्वप्न से समस्त संसार जिसमें की जीव पड़ा हुआ मेरे तेरे के भेद में पड़ा हुआ नाना प्रकार के दुख संकट की सारी भोग रहा है नाना प्रकार की समस्याएं उसके सामने है हाहाकार तमाम है क्योंकि जहाँ परमात्मा के राज्य में आ जाता कहाँ शांति है विश्राम तो है वहाँ कहीं कोई संकट नहीं कोई पीड़ित आदि नहीं इसलिए उदाहरण के लिए स्वप्न और जागृति को देखें बार बार और फिर उसके बाद फिर इस जागृत में जो हमारा संसार के संसार क्षेत्र में पड़े हुए हैं वहाँ से निकलना और परमात्म रूपी राज्य में परमात्मा के राज्य में उसमें आ जाना उसके लिए प्रयास करना ये साधना यही है इस प्रकार से कहते हैं भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा में उसके ऊपर फिर संसार का कोई पहाड़ नहीं संसार उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो तुरंत विभीषण पाठ्य मेला और सन्मुख राम शरीर से शीला ये भगवान का प्रणतार्थ भंजन स्वभाव या प्रतिज्ञा है भगवान के माने ये बात कि भक्तों के हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न करना उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना जैसे कि भक्त लोग परमात्मा की शरण में जाएं, उसके महत्व को समझें और उसके आनंद का अनुभव करें प्रेरणादायी ये प्रसंग है इसको बार बार ध्यान दें विचार करें और परमात्मा के शरण में जाने का निश्चय करें ये तुलसीदास जी का मंत्र है ये कथा जो वो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हम्म? शंकर जी आगे कहते हैं कि देखा पार्वती भगवान ने क्या किया हम्म? कैसे अपने शरणागत की भगवान ने कैसे रखा कैसे हाँ, है भगवान ये है भगवान की महिमा और फिर आगे बताते हैं कि देखो भगवान की महिमा देखो ये विभीषण जिसको की कुछ शक्य नहीं थी रावण के सामने थर थर कांपता था अब इस समय जो है विभीषण जो है ऐसा प्रचंड शक्तिशाली हो गया कि रावण से ज्यादा तो शक्ति उसमें आ गई अब इस समय जब देखा विभीषण ने की भगवान राम के सेल लगी तो भगवान तो मूर्छित होने लगे लेकिन विभीषण को क्रोध आया और अभी तक विभीषण ने आज तक जितना भी युद्ध हुआ है आज युद्ध का अंतिम दिन समझ लो है लेकिन विभीषण कहीं लड़ा नहीं अभी विभीषण का प्रथम युद्ध और अंतिम युद्ध है भगवान ने युद्ध करने के लिए लक्ष्मण को भेजा हनुमान को भेजा अंगद को भेजा ये सब लोग युद्ध करते रहे लेकिन भगवान ने विभीषण से कभी नहीं कहा कि विभीषण तुम जाओ युद्ध करो आज भी विभीषण से भगवान ने कहा नहीं युद्ध करने के लिए लेकिन विभीषण ने जब देखा कि भगवान ने हमारे कारण से स्वयं से अपनी छाती में सहन कर ली और बेहोश भी हो रहे हैं दर्दनाक चल है दोनों कथाएं चलती हैं भगवान का संकेत ये भी परम परमात्मा है निर्दय प्रसंग है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता दूसरी तरफ नवनाट्य भी चलता है मानवीय लीला भी चलती है जिसमें कि वो रावण की सेलाती है भगवान की छाती में लगती भी और भगवान बेहोश भी होते हैं नव लीला विभीषण जब ये देखा तो अब उसको क्रोध आता है और युद्ध करने के लिए तैयार होता है तो लाभ शक्ति मूर्छा तक भाई भगवान की शक्ति लगी तो कुछ मूर्छा है अब ये पहले जैसी मूर्छा ऐसा नहीं कि मूर्छा खाकर जी गिर पड़े हो लक्ष्मण जी की तरह से बेहोश हो गए उसको तो भगवान को नहीं हो रही कस भाई प्रभु कस खेल थोड़ा नदी सुरन बिचलई आप शंकर जी याद दिलाते हैं देखो भगवान तो खेल कर रहे हैं अगर मूर्ति सती लगती भी है उनको मूर्छा भी आती है तो ये उनकी युद्ध क्रीड़ा है खेल के मारे इस प्रकार हो लेकिन देवता लोग तो उसे सत्य मानते हैं और व्याकुल होने लगते हैं तो देखो हाय हाय भगवान को भी खेल लगती हाय हाय देखो उनको ये दशा हो गई दूषित हो रहे हैं इस प्रकार में देवता लोग दुखी होने लगते हैं तो देख विभीषण प्रभु श्रम पायो विभीषण ने जब देखा अरे भगवान की दशा हो गई श्रम पायो कि मन मूर्छे जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है तो चल नहीं सकता खड़ा नहीं रह सकता है बैठने लगता है गिरने लगता है तो देखा कि भगवान की प्रकाश के लगने से मूर्छा आने लगी और मानव थकने से लगी तो उसने क्या किया कि कई कर गदा क्रुद्ध हुई भाई उसने भी गदा उठाई और दौड़ा किधर गिरा रावण उसके सामने मैं करके विभीषण दौड़ पड़ा रे अब विभीषण ने ललकारा रावण को क्या कहता है कि रे को भाग्य मंद कुबुद्धे ये दुर्वचन है अब देखो विभीषण जो रावण को दुर्वचन इस प्रकार से बोलता है दुर्भागी कहता है उसको सख कहते हैं मंद बुद्धि कहते हैं मंद कुबुद्ध ये सब शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं मैंने ये दिखाते हैं बार बार रावण के लिए शब्दों का प्रयोग बहुत लोगों के द्वारा कराया जाता है तो ये साथ देखते हैं जगह जगह लोग बात रावण को प्रकार से अभागी भी बोलते हैं दुर्बुद्ध भी बोलते हैं सह भी बोलते रहते हैं कोई विभिषण नहीं बहुत बोलते रहते हैं इसलिए बोलते रहते हैं जैसे कि पाठक लोगों के मन में बैठे कि रावण की जैसी करनी है ये कोई अच्छी करनी नहीं है आदरणीय नहीं है ये हे है क्या है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए जैसे कि रावण की करनी है व्यवहार है उसका ये क्या है इसलिए उसके लिए सख्त शब्द इत्यादि का प्रयोग करते रहते हैं दुर्बुद्ध बोलते रहते अगर कोई रावण जैसी करनी करता है तो उसके मन वो दुर्बुद्ध है अगर रावण जैसा व्यवहार करता है जीवन में जीवन जीता है जिसके माने वो अभागी है सत है मूर्ख है ठीक है तो कहते हैं तय सुरंदर मुनि नाग विरुद्ध कि अभी तक तुम जो हो ऐसे ऐसे जो पूजनी है देवता लोग उनका भी विरोध करते रहे मनुष्यों का भी विरोध करते रहे मुनियों का नागों का इन सबका सबके तुम सारी दुनिया के सबके द्रोही तुम रहे सबका विरोध करते रहे सबसे युद्ध करते रहे सबको पीड़ा पहुंचाते रहे तुम तो इस प्रकार से परद्रोही होने का तुम्हारे ऊपर कलंक है ऐसा कह के उसको भीषण जो है रावण के ऊपर आक्रमण करता है कहता है सादर से वो कौन सी से चढ़ाए बस एक बात ऐसी थी तुमने शंकर जी की बहुत पूजा की और बड़े आदर पूर्वक शंकर जी के ऊपर तुमने सिर काट काट करके उनको चढ़ा दिए अथवा यज्ञ की तो उसमें हवन में तुमने अपने सिर काट काट के शंकर जी के आह्वान करते हुए उनको होम दिए तो इससे तुम्हें कुछ पुण्य प्राप्त हो गया उसी के फलस्वरूप अभी तक तुमको क्या फल उसका मिला की एक एक कर कोटे न पाए शंकर जी ने भी उसका बदला दिया तुमने सिर चढ़ाए उनको मान लो एक सिर चढ़ाए दोनों दस दिए तुमको दस सिर मान लो काट करके शंकर जी को तुमने चढ़ा दिए तो आप देखो भगवान ने इतने सिर काटे तो तुमको हजारों हजारों लाखों लाखों सिर मिल रहे इतने इतने सिर जम गया है ये तुम्हारे सिर का जमियाना शंकर जी की पूजा करने के फलस्वरूप ये फल तुम्हें प्राप्त हो गया था लेकिन अब वो तुमने जो पूजा की थी वो भी अब खत्म अब वो पुण्य कहा तक तुम्हारा का साथ देगा तुम्हारा खत्म हो गया तुम्हारा पुण्य तो कहते थे कि कारण खड़े अबे लगे क्यों कहते उसी के कारण से शंकर जी की इतनी पूजा आराधना की उसी बल पर तो अभी तक बचे रहे मरे नहीं नहीं तो पहले तुम्हारे तुम्हारे जैसा दुष्ट व्यक्ति सारे विश्व का द्रोह करने वाला व्यक्ति बचता नहीं अब तक नष्ट हो जाता समाप्त हो जाता संसार में भी देखते हैं इस प्रकार के दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति उनका विनाश बहुत जल्दी हो सकता है लेकिन उन लोगों को करते क्या है वे लोग कहीं न कहीं किसी व्यक्ति की आड़ लेते हैं चाहे कोई धर्मात्मा व्यक्ति उसकी आड़ में चाहे कोई नेता हो उसकी आड़ में चाहे कोई और कोई प्रसिद्ध पुरुष हो कोई शक्तिशाली हो उसकी आड़ में कभी उनका वो हो प्राचार भ्रष्टाचार उनका जितना जो है चोरी डाका वाले कष्ट तभी तक उनकी करते हैं कोई चोरी डाटा तब तक कर सकता है जब तक पुलिस की उसके ऊपर कृपा बनी रहे तब तक उनकी शरण में जिसका रहेगा आश्रय रहेगा तब तक वो करते रहेंगे इस प्रकार से कोई भी कार्य करने वाला कोई व्यक्ति चाहे चोरी डाटा हो चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे दुराचार हो जब तक कि कोई आश्रय नहीं देगा तब तक कोई कर नहीं सकता और जहाँ उसका आश्रय वो समाप्त हो गया तहां पर बच नहीं सकता हम भी कहते हैं देखो संसार में जैसे होता है वही मानो अभी तक ये रावण ने इस प्रकार के कुमार्ग पर चला सारे गलत कार्य करता रहा सारे विश्व से द्रोह करता रहा लेकिन एक शंकर जी के भरोसे उन्हीं की शरण शरण में लेकर के उन्हीं की पूजा करते हुए इतना करता रहा लेकिन अब समय आ गया वो भी उसे समाप्त हुआ तो यही कारण खर अभिलग बाचो अब तब तो काल शीत पर नाचो बस विभीषण कहता तुम्हारे सिर के ऊपर काला अब वैसे तो युद्ध क्षेत्र में विभीषण इतना बोले और बोलने के लिए अवसर मिले तो शायद न भी मिले लेकिन चूंकि शास्त्र में इस बात को कह करके पाठकों को सुझाना है इसलिए विभीषण इतना बोलता है बुलवा दिया जाता है न बोले तो भी बुलवा दिया जाता है जैसे अन्य लोगों को पता चले है कि व्यवहार में संसार में सत्य क्या है उसको सत्य को उद्घाटित करने के लिए इतना विभीषण ने बोल दिया तो अब तब काल शीश ना के विभीषण कहता आप तुम्हारे सिर के ऊपर काल आ गया है अब तुम मरने वाले हो समाज समय आ गया राम विमुख सट चाह संपदा कहते हैं कि भगवान राम से विरोध करके तुम पैसो चाहो संपत्ति सुख चाहो संपत्ति के माने यहाँ पर कोई राज्य ही नहीं है संपत्ति मन सुख शांति विश्राम अगर तुम चाहो तो भगवान से विरोध करके नहीं हो सकती ऐसे कही हनिष मांगे और गदा ऐसे कह करके विभीषण ने जो गदा लेकर के दौड़ा था ये चिल्ला कहलाता हुआ रावण के पास तक पहुंच गया था और रावण की छाती में हनक करके वो गदा मार जैसे रावण ने सेल मारी तो भगवान राम की छाती में लगी तैसे विभीषण ने भी उसके बदले में दौड़ करके राम की छाती में गदा मार दी तो गदा मारने से रावण क्या हुआ उसके ऊपर असर और माँ गदा प्रहार घोर देखो प्रहार हुआ गदा ग्रामण की छाती पर घोर प्रहार हुआ कठोर लागत मही पड़ो वो गदा लगते ही राम जो वो बेहोश होकर के जमीन में गिर खड़ा नहीं रह सका इतनी जोर की गदा लगी दस बदन सोने के प्रसरत उसके दसों मुखों से खून बहने लगा पुलिस हमारे धायो रिस भरे हो लेकिन थोड़ी देर में फिर उसको जो है वो उसने अपने आप को फिर संभाला इतनी चोट लग गई थी गिर पड़ा था तो फिर अपने को संभाल कर उठ करके बैठा फिर खड़ा हुआ और युद्ध करने के लिए फिर तैयार हुआ और फिर रावण विभीषण के ऊपर आक्रमण करने लगा दोनों युद्ध होने लगा दो घेरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक अनहन अब कहते हैं कि दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा एक एक पर लड़ने लगे एक तरफ विभीषण दूसरी तरफ रावण इन्हीं दोनों का युद्ध आपस में होने लगा खूब भिड़े एक दूसरे को मार रहा है रघुवीर पर दर्शित विभीषण शंकर जी कहते हैं कि देखा पा रहे थे विभीषण इतना बल कहाँ से आ गया कहते हैं रघुवीर बल दर्शित विभीषण ये तो भगवान राम के बल से विभीषण में इतना बल जो ये रावण सिद्ध कर रहा है घाल नहीं पाते कहते हैं घाट ग्रह रंच मात्र है अब वो विभीषण इस समय रावण को इतना शक्तिशाली रावण को पाचन पाषण भी नहीं समझता और उसके सामने युद्ध करने के लिए बड़े उत्साह से युद्ध कर रहा है अब इतनी बड़ा आ गया विभीषण अब आध्यात्मिक दृष्टि देखो तो विभीषण जीव रावण है वो अभी तक तो जीव जय भगवान के शरण में था तो भगवान रावण से युद्ध कर रहे थे और फिर आप देखो इसको जीव को विभीषण को भी इसी बीच में फल प्राप्त हो गया जब भगवान ही इसको मोह को नष्ट करने के लिए युद्ध करने लगे तो जीव जैसे जैसे मोह दुर्बल पड़ेगा वैसे जीव में शक्ति आती जाएगी जीव दुर्बल क्यों है मोह के कारण जब तक मोह ने जीव की गर्दन पकड़ रखी है उसे झकझोर रहा है तब तक जीव तो है कमजोर उससे कुछ करते डरते हैं नहीं बनता उसे नहीं समझ में आता हम कैसे इस संसार में दुखों से छुटकारा कैसे पावे इन काम क्रोध आदि विकारों से कैसे छुटकारा पावे शांति कैसे मिले उसे समझ में नहीं आती लेकिन जहाँ वो भगवान की शरण में गया भगवान ने उसकी रक्षा की तो फिर वो या जैसे जैसे मोह घटने लगा नष्ट होने लगा तैसे तैसे जीव में आत्मबल बढ़ने लगा उसे अपने ऊपर भरोसा आने लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं हम भी इस अविद्या को नाश करने के लिए कुछ कर सकते हैं साधक लोग जब आगे साधना करते करते <clears throat> चिंतन आत्मचिंतन <clears throat> ये सब करने लगते हैं वेदांत उपनिषदों इनका सबका अध्ययन करने लगते हैं तो फिर जीव में एक शक्ति आ जाने लगती है उसको लगने लगता है कि हम साधारण जीव नहीं है कर्म के बंधन में पड़े पुनर्जन्म के बंधन में पड़े हुए साधारण नहीं है आत्म आ जाता है उसको लगता है कि हम आत्मा है और आत्म शक्ति से उत्तर वो हो अपनी अविद्या को दूर करने के लिए स्वयं भी प्रयास करने लगता है भरोसा आने लगता है उसे अपने ऊपर ये भी सब साधकों की अनुभूतियाँ हैं साधना काल में आदि जैसे जैसे बढ़ते हैं तैसे तैसे उनको इस प्रकार की अनुभूति होती है तो ये कहते हैं कि रघुवीर पल करके तो विभीषण काल नहीं ताकों गले क्या कहते हैं उमा विभीषण राम नहीं शंकर जी कहते हैं पार्वती विभीषण राम नहीं सन्मुख चितव की का ये विभीषण कभी रावण से युद्ध करना तो बात कभी आंख नहीं मिला सकता था साधारण जीव संसारी जीव और ये घोर अविद्या इतना भयंकर संसार बंधन जीव कभी हिम्मत कर सकता है कि संसार बंधन को हम तोड़ दें और विद्या को नष्ट कर दें ऐसे बहुत से लोग जो कि भगवान के भक्त बड़ी साधना करने वाले वो भी इतना कल्पना तक नहीं करते कि कभी हम जाएंगे अविद्या दूर हो जाए और आत्मा का ज्ञान हो जाए और आत्मा परमात्मा ये कहीं कहीं ये कहाँ हो सकता है हाँ, ईश्वर ईश्वर है हम जीव है जीव जीव ही रहेगा ईश्वर ईश्वर ही रहेगा जीव सदा ईश्वर के अधीन ही है ये भावना से आगे व्यक्ति नहीं बढ़ सकता हिम्मत नहीं पड़ती उससे आगे सोच नहीं जीव भाव व्यक्ति व्यक्ति को इतना दुर्बल कर देता है कि तो उसको आगे अपने स्वतंत्र स्वरूप जो अपना आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान है अपना आत्मज्ञान का जो वैभव है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता ये संभावना नहीं है कि उसमें संचितता तो कहते देखो जीव की दशा ये होकर जो तो भगवान की कृपा है जिसके माने भगवान की पूजा करो उपासना करो भगवान की सेवा करो तो करते करते करते जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो ये संभावना भी लगेगी कि हम जीव नहीं है नाम शरीर है नाम जीव है हम शुद्ध आत्मा है परमात्मा है और ये स्थिति हमको प्राप्त हो सकती है उत्थान भूत भी हो सकती है परमात्मा भाव भी हमको प्राप्त हो सकता है और जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति ये मुक्ति भी संभव है ये सब उसको व्यक्ति में संभावना हृदय में बहुत बात में बड़ी मुश्किल उत्पन्न होती है वो कहते हैं विभीषण को आगे उमा विभीषण राम नहीं है सन्मुख चिताओ सो अब ढेरत काल के धीर वीर प्रभाव वो अब रावण के ऐसे बढ़ रहा है जैसे रावण का ही काल बन जाए रावण को मारने को तैयार है ऐसे युद्ध कर रहा है कहते ये भगवान श्री राम जी का प्रभाव तो ये जितना प्रसंग यहाँ से हुआ तो कली विभीषण के सामने आती है वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखाई दिया कि किस प्रकार से जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो कैसे भगवान जीव की रक्षा करते हैं उसकी असंभावनाओं को मिटाते हैं और जीव में भी किस प्रकार से भगवान की शरण में रहने पर शक्ति आती है ऐसा नहीं कि भगवान की उपासना सेवा करने वाला जीव है वो और भी अपने आप को अपन को समझने लगे अरे साहब हम करी क्या सकते हैं जो कुछ करेगा परमात्मा करेगा हम तो कुछ है नहीं हमसे तो कुछ होगा ही नहीं ऐसे नहीं उसके अंदर जो वो चेतना जागृत होती है शक्ति उसका आता है आत्मविश्वास उसका बढ़ता है उसे लगता है कि भगवान की कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन कर सकते हैं ऐसा आत्मबल मनोबल ये उपासना के द्वारा या साधना के द्वारा व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है उसकी बात करते देखो विभीषण को कैसे उत्पन्न हो गया मनोबल आ गया जैसे विभीषण में आ गया ऐसे अनजाने लोगों में किसी प्रकार से आत्मबल आ सकता है कोई साधना करे तो सही इसलिए ये जो शास्त्र है वो हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए किस प्रकार से भाव करना चाहिए विविध प्रकार से समझाता रहता है युक्तियां बताता रहता है कभी कभी कोई कोई व्यक्ति अपने आप को सांसारिक दृष्टि से निराश्रित समझते हैं उनको लगता है अरे हमारा दुनिया में कौन है अरे हमें कौन पूछने वाला है हमारी कहाँ जाता है ऐसे करके भी सोचते रहते हैं और दुखी भी रहते हैं दूसरे लोगों को देखते हैं अरे दूसरे लोगों को देखो कितना समझता है कितना पैसा भी है कितना परिवार भी है और कितने सुरक्षित हैं ऐसा लोगों को देख देख करके लगता रहता है अपने आप को देखते अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है हम तो बिल्कुल असुरक्षित है हमारा कौन ठिकाना है हमें तो कोई पूछने वाला नहीं ये सब निराशा की भावना है ये दुख की भावना जितनी है उन्हीं व्यक्तियों को है जिनके हृदय में भक्ति नहीं आती जो भगवान की शरण में नहीं गए परमात्मा की कृपा जिनको प्राप्त नहीं होनी की दशा है नहीं तो इससे बिल्कुल विपरीत है जो लोग अपने आप को संसार में बड़े परिवार बड़े धन और बड़े पद और बड़ी संपत्ति के बीच में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित समझते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कतई सुरक्षित नहीं है वे तो महाघोर कंकाल के जितने भी विकार है और जितने की वो भय चिंताएं हैं वो सब उनको गर्दन पकड़े हुए उनको झकझोरा करता है वो मारे मारे करते हैं हाथ घूमते हैं वो देखने वाले लोग भले जिनके आंखों पर की बनी है उनकी दैनी दशा को न समझ पा बात दूसरी लेकिन वही व्यक्ति जो वो महान श्रेष्ठ है जो भगवान की शरण में जिनके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त ये रास है ये व्यक्ति के हृदय में उद्घाटित होना चाहिए इसमें यदि किंचित संदेह है किसी व्यक्ति को तो बार बार शास्त्र पढ़ना चाहिए बार बार श्रवण करना चाहिए बार बार विचार करना चाहिए और बात जो सही बात है उसको चित्र में धारण करनी चाहिए ये ऐसी नहीं कि गलत गलत बातें खाम खा व्यक्तियों को ट्रेन ट्रेन करने के लिए खाम खा करके इस प्रकार की बातें कही जाती हैं झूठ मूठ कही जाती हैं ऐसा नहीं है सत्य यही है संसार में इस प्रकार का जो सत्य है वही असंभव दिखाई देता दिखाई देता है तो वही मानो उसमें कुछ तत्व नहीं है ऐसा लगता है और जो असत्य है वही घोर सत्य दिखाई दे रहा है यही माया जाल और क्या है मदीये सत्यम वदामि ते भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुं गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय